आसानी से साधन हो सकता है रात को सोते समय भी प्रातः हम उसी का स्मरण करें जो हमारे हृदय में संस्फुरित हो रहे हैं शंकराचार्य के चार मुख्य शिष्य थे तीन तो बड़े विद्वान थे पढ़े लिखे जी में बहुत श्रद्धा रखता था सुरेश्वराचार्य विद्वान थे तोतकाचार्य भी अच्छे विद्वान शिष्य थे शंकराचार्य ग्रंथ पढ़ाते थे तो बोले गुरु जी शुरू करें बोले वो आ जाए हस्ता मलक बोले वो तो सारा दिन सेवा में रहता है उसको तो क्या विद्या विद्या वो तो बर्तन मांग रहा है तो शंकराचार्य ने देखा कि जो श्रद्धा से गुरु भक्ति में लगा है उसकी ये लोग मजाक उड़ाते हैं बोले बेटा ये जरा पाठ कौन सा पाठ पढ़ेंगे तो जरा पढ़ता पढ़ता हो तो हाथ में तो गुरु की सेवा के बर्तन की राख थी लेकिन गुरु सेवा में तत्पर गुरु की कृपा मिली प्रतस्मामी हृदय तत्व सचित सुखम परम गति तुरीयम यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम तद्ब्रह्म निष्कलहं न च भूतसंगम हम प्रातः काल उसी परमेश्वर का चिंतन करते जो हृदय में संस्कृत होता है जिसकी सत्ता से जागृत आती है चली जाती है स्वप्न आता है चला जाता है गहरी नींद आती चली जाती फिर भी जो एक रस है उस आत्म तत्व की उपासना कर दंग रह गए दूसरे शिष्य सार का भी सार है आत्मा परमात्मा उसका साक्षात्कार करना कठिन नहीं है और सारी विद्याओं का खजाना है पाशवी अंश राक्षसीय अंश और भगवती अंश तीन का मिश्रण मनुष्य है पशुतमन काम क्रोध लोभ मोह चिरिंग चिंता ये सब गंदे विचार भी रहते हैं मार काट धोखा धड़ी है वो राक्षसी विचार भी रहते हैं और सज्जनता पवित्रता सच्चाई होनेस्टी ये सदगुण भी रहते हैं भगवती अंश भगवान के उस देव के ये 26 गुण है उसको बोलते देवी संपदा आसुरी संपदा तो राक्षसी अंश पाश्री अंश वस्म और भगवती अंश जो जो आदमी कूड़ कपट पशुता छोड़ता है कठोर राक्षसों जैसी क्रूरता छोड़ता है और सच्चाई से साधन भजन करता है या व्यवहार करता है तो उसका भगवती अंश प्रकट हो जाता है परमहंस योगानंद थे उनको गोपीराज कविराज ने कहा मशहूर हो गए गोपीराज गोपीनाथ कविराज ने कहा कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं चिट्ठी में लिख के सवाल अपने पास रखो तो वो उस बोल देंगे तुम्हारी चिट्ठी में ही लिखा है तो महाराज का तो भगवती अंश इसी साधना में विकसित था सूर्य साधना किया था बोले तुम कोई भी सवाल लिखो फिर उस चिट्ठी को जला दो कागज को फिर मैं तुमको वो तुम्हारे अक्षर लिखे हुए सवाल लिखा हुआ और उसका जवाब देता हूं तो गोपीनाथ कविराज मशहूर आदमी थे अभी इस शरीर शांत कुछ सवाल लिखा लिखा अपना छुप के और वो कागज जला दिया तो कागज की मिट्टी बढ़ा दी महाराज ने यूं करके अपने तके के नीचे से कागज निकाला परमंश योगानंद ले लो तो गोपीनाथ के लिखे हुए अक्षर प्रश्न और उसका उत्तर बोले ये क्या हुआ ये भगवती अंश है इधर कोई आते हैं हम बोलते हैं तुम ऐसा ऐसा करो तुमको ये ये है थोड़ा ऐसा है तो लोग आश्चर्य होता है ये भगवती अंश जो जो हम भगवान में रहते हैं क्यों क्यों भगवती अंश प्रकट होता है और जो जो हम हल्के कर्मों में रहते हैं कूड़ कपट में लड़ाई झगड़ों में क्यों क्यों फिर हमारा समय उसी में चला जाता है डॉलर कमाया फिर क्या वाइन पीते हैं ये पांचवी अंश है डॉलर कमाया घोरा लोग काला लोग आपसी लोग फिर रोक पोप यूं कर कर कर सुखी होने के लिए करते हैं लेकिन ज्यादा हेंग्री हो जाते हैं वो भगवती अंश नहीं जानते सत्संग नहीं है साधना नहीं है ऐसा खान पान नहीं है सुखी होना सब चाहते हैं महान बनना सब चाहते हैं लेकिन भगवती अंश के स्वभाव के तरफ नहीं मुड़ते तो न सुखी न सिद्धि न महानता गुटबंदी करेंगे ये करेंगे ये पांचवी अंश ऐसा है निंदा चुगली रात देर तक जगते रहना अभी रिसर्च के विज्ञानियों को शाबाश है बोले रात के समय जो मोबाइल पे बात करते हैं उनको अनिद्रा का रोग हो जाता है तो ये अखिल जो इधर था वो दिन में तो सेवा में तत्पर था लेकिन रात को कहीं सोते समय चलो जरा मोबाइल फ्री है तो किसी से भी बात किया ये उसको गलती उसको बहुत परेशान किया उसको अनिद्रा का तकलीफ हो गया था बेचारा बोलता नहीं था कभी कभी बोलता था मैं क्या बात है बोले रात को दो बजे तक नींद ही नहीं आती मेरे को कोई ऐसा तो है नहीं इसको चिंता टेंशन तो अभी बाद में पता चला कि ये कारण तो मैं घर जाऊंगा खूब सोऊंगा तो रात को देर तक घर में भी अगर मोबाइल लेकर सोए तो अनिद्रा नहीं जाएगी तो जिनको मोबाइल है वो पैसे देके भी मोबाइल लेती हैं खर्चा करती है, और अपने को अनिद्रा का रोग के खाई में देर सवेर डालेंगे बुढ़ापा जल्दी आएगा मोबाइल तो आज के युवकों के लिए अभिशाप है मुसीबत है बापू जी आप भी तो बात कर लेते होंगे हमने कल भी नहीं किया आज भी नहीं किया मोबाइल से बात बहुत जरूरी होता है तो कोई देता है तो दूर रखे अभी एक सेवक आया है वो थोड़ी बात कर लेता है ध्रुव को बोला उसने बेटी खाना वाना खाया है ध्रुव बोले हाँ ध्रुव को लगा ये कौन बाप आ गया है बोला था है हाँ, पापा आ गया है ऐसे ही कईयों को आज खुशखबरी हुई कि हमारा भी कोई खबर लेने वाला है हमें शिव शंकर काशी के काने खबर तो ईश्वरीय अंश जगाओ अपना वासनांश ऐसा मान लो राक्षसी अंश पशु अंश मतलब मानवीय अंश खिंच जाना और भगवत अंश सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये जो दस माला जपने का नियम देते ना वो पांचवी अंश से ऊपर उठाने के लिए और प्राणायाम आदि करे तो और अच्छी तरह से दृढ़ता से राक्षसी अंश से ऊपर आए तो रोज तीन प्राणायाम तो कर ही डालो सवा मिनट या डेढ़ मिनट कुंभक आभ्यंतर और पचास साठ सेकंड बाह्य कुंभक अप्रतिबंध करके भगवत ज्ञान विकसित होने में मदद मिलेगा ठीक है ठीक है अंश गुरु ने जगाया था भगवान का दर्शन कर लिया था रामी रामदास ने जगाया था हनुमान जी को प्रकट कर लिया परमंश योगानंद ने जगाया था संकल्प से वो सौर्य उपासना थी उनकी ओंकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि बोल के थोड़ी देर मन ओठों में जप करें फिर धीरे धीरे कंठ में करें फिर हृदय में करें फिर मन चला जाएगा पांचवी अंश में भूल जाएंगे राक्षस ओ भगवती अंश में आ जाएंगे तो जितना अधिक भगवती अंश में रहोगे विश्राम में उतना सब सुगम हो जाएगा बहुत इजी साधन है सरल ओ हम्म? बहुत इजी है तब भगवान को गुरु को देखे आंख बंद कर यहां देखे होठों में चलता रहे ओम ओम फिर मन इधर उधर जाए तो गोविंद हरे गोमन इंद्रिया इंद्रियों के द्वारा जो विचरण करती सत्ता चैतन्य की इंद्रिया थक के जिसमें आ जाती तो गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सुखधाम हरे आत्मराम हरे धाम हरे त्म हरे जय जय प्रभु दीन दया हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविन्द हरे भगवती अंश को जगाने का सुंदर उपाय है कि द्वेष से प्रेरित होकर कर्म ना करें ये राक्षसी अंश है राग से प्रेरित होकर कर्म करना ये पाशवी अंश है और समता से पर दुख का तरतार पर उन्नति के भाव से कर्म करना ये भगवती अंश जगाना है कितना सरल उपाय राग से पाशवी अंश द्वेष से राक्षी अंश और समता से भगवती अंश विकसित होता है अब तीनों अपने पास है द्वेष भी रहता है राग भी रहता है और समता भी रहती है आप समता को महत्व दे दो बस हो गया हे प्रभु आनंद दाता दीजिए हे प्रभु दूर हमसे कीजिए हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए 那个。 झरेट रख difficल दूर हमसे कीजिए हे प्रभु